श्रीमद भागवत गीता के चतुर्दश अध्याय में श्री भगवान जी बोले ज्ञानों में भी यदि उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और परले काल में भी व्याकुल नहीं होते हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं हे अर्जुन सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शीत में बांधते हैं हे निष्पाप उन तीनों गुणों में सत्य गुण को निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है हे अर्जुन राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान मैं इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है हे अर्जुन सब दे अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान मैं इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बांधता है हे अर्जुन गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है हे अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्य गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण वैसे ही गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्य गुण बड़ा है हे अर्जुन रजागुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होती हैं हे अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतकरण की मोहनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होती हैं जब ये मनुष्य सत्यगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम करने कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है रजागुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है और तमागुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूड योनियों में उत्पन्न होता है श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजगुण से निसंदेह लोभ तथा तमगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी होता है सत्य गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु और नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं जिस समय दृष्टा तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सचिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक, युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है तो भगवान जी कहने लगे हे अर्जुन जो पुरुष गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण भी ही गुणों में बरते हैं ऐसा समझता हुआ जो सचिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एम उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सर में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है जो मान और अपमान में सम है मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है वे पुरुष गुणातीत कहा जाता है जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों की भली भांति लांग करके सचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं इस प्रकार से चतुर्दश अध्याय पौन